बोल मनवा ओम ओम बोल ओम ओम बोल मनवा ओम ओम बोल जग जग ना डोल मनवा ओम ओम बोल जग जग ना डोल मनवा ओम ओम बोल जीवन सागर से तरने को जीवन सागर से तरने को जन्म मरण के दुख हरने को नाम बड़ा अनमोल मनवा ओम ओम बो नाम बड़ा अनमोल मनवा ओम ओम बो जगह जगह ना डोल मनवा ओम ओम बो नाम ओम का है दुख भंजन नाम ओम का है दुखवन इसको जपते योगी मुनिजन मन की आंखें खोल मनवा ओम ओम मन की आंखें खोल मनवा ओम ओम जगह जगह ना डोल मनवा ओम ओम प्रीतम पानी जग में आया प्रीतम पाने जग में आया हीरे जैसी तेरी काया मिट्टी में ना रोल मनवा ओम ओम बोल मिट्टी में ना रोल मनवा ओम ओम बोल जगह जगह ना डोल मनवा ओम ओम बोल नाम प्रभु का है सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी विघ्न विनाशक संकट हारी घड़ी घड़ी का बोल मनवा ओम ओम बोल जगह जगह ना डोल मनवा ओम ओम बोल ओम ओम बोल मनवा ओम ओम बोल जगह जगह ना डोल मनवा ओम मनवा ओम ओम बोल ओम ओम बोल मनवा ओम